राखी न सकई न कही सक जाहो दुह भारते उर दारुण राहु लिखत सुधा कर गाल हो विधिगत बाम सदा सबका धर्म सने उभय मति घेरे भय गति साप छुछुंदर के राखहु सुत करऊँ अनुरोधू धर्म जाए अरु बंधु विरोधु न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि वन चले जाओ दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी ही होती है लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है कहूँ जान बन तो बड़िहानी संकट सोच विवस भैरा धरम धर्मनि राम भरत दो सुत सुतसमजनि सरल सुभा राम रि बोली बचन धीर धर भारी तात जाऊ बड़े किन्हे उन्हीं का पितुवायस सब धर्म कटिका और यदि वन जाने को कहते हूँ तो बड़ी हानि होती है इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच की बस हो गई फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म अतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ तुमने अच्छा किया पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है राजुदेन कहि देन बनो मोहिन सो दुखलेश तुम बिनु भर तहि भूपति रजहि प्रचंड कलेशु राज देने को कहकर वन दे दिया उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा जो केवल पे तो आय सुताता तो जन जा जानिब तु मातु कह बन जाना तव कानन सत अवध समाना पितु बन देव मातु बन देव खग मृग सरोह से अंतहु उचित नृपहि बासो बय बिड़ो के हो हरासु हे तात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है बड़ भागे बनो अवधय भागे जोरघुबन्स तिलक तुम त्यागे जोसुत कह सङ्गमो हो तुम तुमरे हृदय हो सन्दे संत परम प्रिय तुम सब हे के प्राण प्राण के जीवन जी के ते तुम कहो मातु बन जाओ मैं सुन बचन बैठ पछता हे रघुवंश के तिलक वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया हे पुत्र यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है हे पुत्र तुम सभी के परम प्रिय हो प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ यह विचार नहीं करहु हठ झूठ सने हो बढ़ाई मान मातु करनात बले सुरत बिसरे जन जाय यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हर्ष नहीं करती बेटा मैं बलिया लेती हूँ माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना